परमात्मा का स्मरण विश्व रचयिता परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों जीवन को अच्छा बनाने के लिए आज के वेद मंत्र में भी हमें एक दिशा निर्देश दिया गया है आज का मंत्र यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का इक्कीसवां मंत्र है और महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इसे 38वें क्रम पर रखा है मंत्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए परमात्मा के गुणों को बताते हुए इस जीवन को सफल बनाने की प्रक्रिया बताई गई है परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है हे परमात्मा ते तेरे या धामानी परमाणी यानी परमाणी धामानी जो तेरे उत्तम धाम है श्रेष्ठ धाम है धाम का मतलब है जो धारण करने वाले हैं विभिन्न लोक लोकांतर धाम कहलाते हैं और भी इस पृथ्वी पर जो हमारा धारण करते हैं ऐसे सब ऐसी सब वस्तुएं भी धाम के रूप में कहलाएंगी तो जो आपके उत्तम धाम हैं या ते परमाणी धामानी और चूंकि परमात्मा ने इनको बनाया है इसलिए ये परमात्मा के धाम है इसके लिए यहां पर परमात्मा को संबोधित किया विश्वकर्मन हे विश्वकर्मा परमात्मा इस समस्त विश्व को बनाने वाले परमात्मा समस्त उत्तम कर्मों को करने वाले परमात्मा परमात्मा विश्वकर्मा है सबको बनाता है विशिष्ट उत्तम कर्मों को करता है तो उस विश्वकर्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि याते परमाणी धामानी जो तेरे उत्तम धाम है आगे कहा या वमा या अवमा यानी अवमानी जो तेरे निकृष्ट धाम है निचले स्तर के धाम है विश्वकर्मा परमात्मा उत्तम धामों को भी बनाता है उच्च धामों को भी बनाता है और निम्न स्तर के निचले धामों को भी बनाता है या अवमा यानी अवमानी धामानी और आगे कहा या मध्यमा यानी मध्यमानी धामानी और जो तेरे मध्यम धाम है मध्यम स्तर के धाम है परमात्मा ने जीवों के हित के लिए विभिन्न धामों की रचना की है उसमें उत्तम भी हैं मध्यम भी हैं और निचले स्तर के भी हैं परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा समान है फिर भी कर्म के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार परमात्मा उन्हें उचित फल प्रदान करता है यथा योग्य व्यवहार करता है तो यथा योग्य व्यवहार के लिए उसे भिन्न भिन्न स्तर के धामों को बनाने की भी आवश्यकता है सबको एक समान धाम में रख दे ऐसा नहीं हो सकता जैसे भिन्न भिन्न विद्यालय होते हैं उच्च स्तर के और सामान्य स्तर के मध्यम स्तर के जैसे निवास के स्थान होते हैं उच्च स्तर के मध्यम स्तर के और सामान्य स्तर के उसी प्रकार परमात्मा ने भी इन धामों को बनाया है ये पृथ्वी भी एक धाम है पृथ्वी से भी अच्छे धाम हो सकते हैं और पृथ्वी से भी कम स्तर के निचले स्तर के धाम भी हो सकते हैं जिन आत्माओं के कर्म इस पृथ्वी पर आने के योग्य हैं उनको इस पृथ्वी पर भेजता है और इस पृथ्वी पर भी भिन्न भिन्न स्थानों भिन्न भिन्न परिवारों भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके जन्म होते हैं और जो और उच्च स्तर के हैं उन्हें और उच्च स्तर के धामों में परमात्मा भेजता है इस पृथ्वी पर रहते हुए भी बहुत सारी बाधाएं बहुत सारी विपरीत स्थितियां हम देखते हैं यद्यपि अनुकूल भी बहुत है लेकिन बहुत सा विपरीत भी है और हम सोचते हैं कि ये विपरीत स्थितियां न होती तो और अच्छा होता तो ऐसे ऐसे भी धाम हैं जो और भी अधिक पुण्यों से प्राप्त होते हैं इसको ठीक करना स्पर्श कर दो उसको तो आपको आवाज आती है इसको किया पौज आपने तो परमात्मा जैसे विभिन्न धामों को बनाता है यथा योग्य व्यवहार करता है ये आवश्यक है तो विश्वकर्मा परमात्मा से कहा और उत इमाम उत इमानी अन्य भी जो और आपके धाम हैं इसी प्रकार के विभिन्न वो सब ये जो तीन वर्गीकरण किए गए उत्तम मध्यम और अवम ये मात्र तीन ही वर्गीकरण तीन ही नहीं है इनके भी तरतम भेद हो सकते हैं और उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है तो विश्वकर्मा परमात्मा ने यथा योग्य व्यवहार करते हुए कर्म के अनुसार ये विभिन्न धाम बनाए हैं <clears throat> ये परमात्मा की स्तुति हुई और अब उस परमात्मा से हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं तो अगली पंक्ति में कहा शिक्षा शिक्षा आप शिक्षा करो सिखाओ परमात्मा ने इन धामों को बनाया और आत्माओं को वहां वहां भेजा उनको वैसे वैसे शरीर प्रदान किए अब एक आर्य प्रार्थना कर रहा है हे परमात्मा आपने इनको बनाया श्रेष्ठों को बनाया सामान्यों को बनाया आप मुझे शिक्षा प्रदान करो शिक्षा वेदों वेद में शिक्षकों को शिक्षा हुआ हुआ है यहां लेकिन परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा आप मुझे हमें शिक्षा करो किन के लिए शिक्षा करो तो उसके लिए अगला शब्द है सखीभ्य मित्रेभ्य जो सखा भाव रखते हैं जो मित्र हैं उन हमको शिक्षा करो जीव परमात्मा के प्रति सखा भाव रखे मित्रता का भाव रखे क्योंकि परमात्मा हमें बहुत कुछ देता है हमारा हित चाहता है तो वो मित्रवत है तो हम आपके सखा हैं आप हमारा हित करते हैं और हम आपको अपने मित्र के रूप में देखते हैं तो हम सखाओं के लिए आप शिक्षा प्रदान कीजिए कैसी शिक्षा प्रदान कीजिए तो आगे कहा हबीशी जो हमारा लेन देन का व्यवहार है हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं उस व्यवहार में हम मित्रों को शिक्षा दीजिए हम कैसे दूसरे से लेवें और कैसे दूसरे को देवें हवी जो होती है इसमें मूल धातु उसमें लेना और देना दोनों है तो हवी से संबंधित जो हमारे कर्म है लेना और देना आदान और प्रदान उसमें आप हमें शिक्षा कीजिए और अगला शब्द कहा स्वभाव ये परमात्मा को संबोधित किया आप कैसे हो जो हमारे को लेन देन के व्यवहार में शिक्षा करो आप स्वभाव हो आप बहुत सारे अन्नों से युक्त हो बहुत सारे प्राणधारक चीजों से युक्त हो महर्षि ने अर्थ किया स्व सामर्थ्य आदि धारण करने वाले जो स्वयं ही धारण करता है उसे स्वधा कहते हैं जो स्वयं धारण करता है उसे स्वधा कहते हैं परमात्मा हम सबका स्वयं धारण करने वाला है हम भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो स्वधा है निरुक्त में स्वधा शब्द अन्न के लिए भी आया निरुक्त में स्वधा शब्द अन्न के लिए भी आया उदक के लिए भी आया जल के लिए भी आया है और द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक के लिए भी आया है ये अन्न जल द्व्यूलोक पृथ्वीलोक ये स्वयं हमारा धारण करते हैं हम केवल अन्न को लेते हैं फिर ये हमारा धारण आगे की क्रिया स्वयं करते हैं इन्होंने ऐसे पोषक पदार्थ रख रखे हैं हमारे में अपने में कि वो हमारा हित करते हैं ये स्वधा है और शतपथ ब्राह्मण में स्वधा शब्द पितरों के अन्न के लिए आया है देवताओं के लिए भी हम प्रदान करते हैं और पितरों के लिए भी जो बड़े बुजुर्ग हैं विद्वान हैं उनके लिए भी कुछ प्रदान करते हैं उसे स्वधा कहा गया जो बड़े लोग होते हैं वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए हमें ऐसी चीज देनी है जो स्वयं उनका धारण करें वो मांगे और फिर हम दें ऐसा नहीं वो स्वयं उनको धारण करें हम ऐसा सोच करके दें ऐसी स्थिति बनाएं स्वयं विचार करके उनके लिए प्रदान करें ऐसी स्वधा पितरों के लिए स्वधा दिया जाता है और स्वधा शब्द शरद के लिए भी आया है शरद ऋतु के लिए तो जैसे कल चर्चा थी शरद ऋतु में सर्वाधिक रोग होते हैं और इस दृष्टि से हम उसको हानिकारक ऋतु समझ सकते हैं लेकिन चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो वो शरद ऋतु हमारे दोषों को निकालने के लिए प्रवृत्त होती है उस ऋतु में दोष उभरते हैं ताकि शरीर का शोधन हो जाए वो स्वयं इस प्रक्रिया को शुरू कर देती है जिस प्रकार से यदि गलत खा लिया जाए तो उल्टी आती है स्वयं बाहर निकलेगा हमें नहीं पता कि ये कुछ गलत खा लिया गया है और उल्टी होनी चाहिए वो उल्टी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी गलत खा लिया है दस्त आने लगेंगे अतिसार होगा विरेचन होगा उस स्वयं ऐसी प्रक्रिया वहां पर है कि ये निकल जाए और हमारा शरीर ठीक हो तो शरद ऋतु भी हमारे हित के लिए विभिन्न रोगों को उत्पन्न करती है जिसमें दोष है उसको भी ठीक करने के लिए तो परमात्मा को कहा वो परमात्मा स्वधावा है और स्वयं धारण करने वाला है ऐसे परमात्मा को हम कह रहे हैं और यही बात अगले पदों से भी प्रकट हो रही है स्वयं यजस्व हम परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा आप स्वयं यजन कीजिए स्वयं यत्न कीजिए परमात्मा से हम ऐसी कृपा चाहते हैं कि वो स्वयं ऐसा प्रयत्न करे कि हम इन विभिन्न लोकों में सुखपूर्वक रह सकें इस स्वयं यजस्व का ये अर्थ नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है ये आलसी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है महर्षि ने भी जो वाक्य लिखे हैं कि हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं है आप अपनी उदारता से ही हमको सब सुख दीजिए और आगे कहा कि आप तो अधमोद्धारक हैं इससे आपको स्व हमको स्वकृपा से सुखी करें और कहा सर्वथा आपके अनुकूल हम वर्तमान नहीं कर सकते अपनी असमर्थता बताते हुए एक कथन किया जा रहा है हम नहीं कर सकते आप ही कीजिए स्वयं यजस्व हे प्रभु आप ही इसके लिए प्रयत्न कीजिए ये आलसी के द्वारा कही गई प्रार्थना नहीं है ये आर्य और श्रेष्ठ के द्वारा कही गई प्रार्थना है महर्षि ने जो नीचे एक शब्द लिखा अधमोद्धारक अधम जो निकृष्ट हैं उनका भी उद्धार करने वाले परमात्मा है और इस शब्द को लेकर के बहुत से ये भी तात्पर्य लेते हैं परमात्मा को अधमोद्धारक और भी मानते हैं वो ये सोचते हैं कि परमात्मा तो अधम का उद्धार करने वाले ही हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हम तो अधम ही हैं अधम ही हमें रहना है परमात्मा अपने आप हमारा उद्धार कर देंगे लेकिन ये आर्य की प्रार्थना नहीं है आर्य ये भाषा क्यों बोल रहा है वो पूर्ण पुरुषार्थ कर रहा है कर चुका है और उसे पता है कि मैं बहुत थोड़ा ही कर सकता हूं मैं कितना भी करूं मैं अपने आप सुखपूर्वक नहीं जी सकता मैं अपने आप अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता मैं अपने आप स्वस्थ नहीं रह सकता इस आर्य में वो अहंकार अब नहीं है कि मैं अच्छा भोजन करके और व्यायाम आदि करके आसन प्राणायाम करके स्वयं अपने आप को स्वस्थ रख रहा हूं उसे इस बात का पता है कि परमात्मा इसमें महान सहयोग कर रहा है मैं एक सीमा तक अपना प्रयत्न कर रहा हूं और उसे अपने प्रयत्न में न्यूनता दिखाई देती है कितना भी प्रयत्न करें नहीं फिर भी न्यूनता है अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर ले तो भी उसे न्यूनता दिखाई देती है कि मुझे और कुछ करना चाहिए मेरे स्वस्थ रहने के लिए सुखी रहने के लिए मात्र इतना पर्याप्त नहीं है इससे अधिक की आवश्यकता है और तो वो कौन देगा वो परमात्मा देगा और हे परमात्मा मेरे प्रयत्न के बाद में अब जो कुछ भी बचा है वो आप स्वयं ही दीजिए आप स्वयं ही देते हैं इसलिए परमात्मा का को यहां स्वभाव भी कहा और स्वयं यजस्व भी कहा आप स्वयं कीजिए और कैसे कीजिए एक प्रक्रिया बताई तन्वम वृधान शरीर को बढ़ाते हुए हमारे शरीर को समृद्ध करते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ करते हुए तनु यानी जिससे हम विभिन्न कर्मों को करते हैं विस्तार करते हैं दो तरह से इसके अर्थ लेंगे शरीर को बढ़ाते हुए क्या करें तो पहले कहा शिक्षा शिक्षा करो हमारी हम मित्रों की शिक्षा सखीभ्य हमारे शरीर को बढ़ाते हुए हमारी शिक्षा करो एक महत्वपूर्ण बात कही गई यदि शरीर को बढ़ाए बिना शिक्षा की जाएगी तो सफलता नहीं मिलेगी एक शिक्षण की प्रक्रिया है कि हम केवल सिखाते रहे सिखाते रहे और यह मूल प्रार्थना शिक्षा की ही है शिक्षा हमारे भी शिक्षा करो लेकिन कैसे तनवम बावृधान हमारे शरीर को बढ़ाते हुए ये प्रवृत्ति है मानव मात्र की हम किसी को कोई शिक्षा देना चाहते हैं और यदि उसके तनु को नहीं बढ़ाना चाहते उसके साधनों को नहीं बढ़ाना चाहते उसको कोई सहयोग नहीं करते तो हमारी शिक्षा को उस तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा लोक व्यवहार में हम इसे निंदित भी मानते हैं लेकिन ये प्रवृत्ति व्यापक है कि यदि सत्संग में अल्पाहार की भोजन की व्यवस्था हो तो अधिक व्यक्ति आते हैं और वो नहीं हो तो कम व्यक्ति आते हैं यानी अल्पाहार और भोजन भी एक कारण बन रहा है वहां आने के लिए ये तनु को बढ़ाने वाला है तनवम वावृथाना और किसी दीन निर्धन के पास जाके हम बहुत शिक्षा दें उसको वो स्वीकार नहीं कर पाएगा वो सुनेगा भी नहीं और सुनेगा तो वो कहेगा ये किस काम की है मेरे क्योंकि हमारी प्राथमिक आवश्यकता शरीर की है शरीर धर्म का प्रथम साधन है और उसके पूरा होने पर ही ये शिक्षा काम करती है भूखे पेट भजन नहीं होगा भूखे पेट ऊंची बातें नहीं होंगी ये परमात्मा निर्देश कर रहा है यहां इस मंत्र में हम परमात्मा को ऐसी प्रार्थना करें उस विश्वकर्मा परमात्मा को तनवम वावृधान शिक्षा और इसको दूसरे तरीके से और खोलें कि तनु होता है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों का विस्तार करते हैं तो हमारे कर्मों को बढ़ाते हुए हम अभी जितना कर रहे हैं वो विशिष्ट शिक्षा के अनुसार कर रहे हैं लेकिन हमारे कर्म और बढ़ें और अच्छे बने कर्मों का विस्तार हो ऐसा करते हुए हमारी शिक्षा कर अर्थात हाँ, आपकी जो शिक्षा हो वो हमारे कर्म के अनुरूप हो जो हमें करना है जो हमें करना चाहिए हमारे कर्मों को बढ़ाते हुए हमारे को शिक्षा कर यानी शिक्षा हमारे कर्म के साथ हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी हो ऐसी शिक्षा कर महर्षि ने यहां पर परमात्मा के जो सब लोग कहे हैं वहां पंक्ति में लिखा उन सब लोगों की शिक्षा हम आपके सखाओं को कर तो इस रचना में जो हम है उसी को आगे खोला गया है आपके सखाओं को हम आपके सखाओं को कर थोड़ा भाषा में ऐसा प्रतीत होगा लेकिन हमको ही खोला गया हम कौन आपके सखा तो इस वाक्य रचना को हम यू देखें उन सब लोगों की शिक्षा हमको कर अथवा उन सब लोगों की शिक्षा हम सखाओं को कर क्या शिक्षा कर और कैसे कर उससे होगा क्या तो कहते हैं यथार्थ विद्या होने से सब लोगों में सदा सुखी ही रहें आपकी शिक्षा तीनों लोगों की होगी और उसको पाकर के हम सभी लोकों में इन सब लोकों में सुखी रह सकेंगे ये जो तीन लोक कहे गए जिसमें अवम भी है सामान्य भी है वो भी सुखप्रद ही है उसमें भी सुखपूर्वक रहा जा सकता है ये वो वाला अधम नहीं है जहां की अत्यंत दुख कष्ट बाधा पीड़ा हो जैसा कि समाज में कल्पित किया गया है वो यहां तात्पर्य नहीं है ये साधनों की दृष्टि से उत्तम मध्यम और सामान्य है लेकिन सुख की स्थिति सब में है और आप ऐसी शिक्षा करो कि हम तीनों लोकों में सुखी रह सके हो सकता है हमारे कर्म और सामर्थ्य ऐसी हो कि हमें अवम या सामान्य लोक मिला हो लेकिन आप हमें ऐसी शिक्षा कीजिए कि उस सामान्य लोक में भी मैं हम सुखी रह सकें सबको सामान्य स्थिति नहीं मिलती है कोई धनी है तो निर्धन है कोई स्वस्थ है तो रुग्ण है ये धाम शरीर कैसा भी मिला हो उत्कृष्ट मध्यम या अवम उसमें मैं सुखी रह सकूं ऐसी शिक्षा कर इसका यह भी मतलब है कि परमात्मा के द्वारा दिए गए कैसे भी धाम हो नीचे से निचले भी उसमें भी शिक्षा के माध्यम से सुखी रहा जा सकता है उसमें भी प्रगति की जा सकती है मनुष्यों के लिए परमात्मा ने जितने भी और जैसे भी धाम बनाए हैं वहां सब जगह भी हम उन्नति कर सकते हैं इस धरती को हम हो सकता है ये कहें कि सबसे निकृष्ट लोक है जैसा भी है उसमें भी हम अपनी प्रगति कर सकते हैं इसमें भी हम सुखी रह सकते हैं निकृष्ट से निकृष्ट में भी और परमात्मा ने हमें निर्देश किया कि इन लोगों के हविषी दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों एक दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार और यह हमारे मनुष्यों का व्यवहार परस्पर लेन देन का ही है चाहे धन का लेन देन हो साधनों का लेन देन हो सेवा का लेन देन हो शिक्षा का लेन देन हो समय का लेन देन हो कुछ भी हो लेन देन तो लगातार चल रहा है हम लेते भी हैं और देते भी हैं किसी व्यक्ति के मन में ये आ सकता है कि मैं तो केवल देने वाला हूं लेने वाला नहीं हूं और वो लेना पसंद भी नहीं करते एक अपना उनका अहंकार होता है देने वाले को ये अहंकार यदि हो कि मैं ही दे रहा हूं और मुझे लेना नहीं है तो वो देना देना नहीं रहेगा और वो देने वाला यदि सोच रहा है कि मैं दे रहा हूं यद्यपि वो दे रहा है लेकिन ये सब कुछ मैं ही दे रहा हूं बिना किसी से लिए मैंने ये सामर्थ्य इकट्ठी कर ली है और ये सारा मेरा है और अब मैं ही अपना दे रहा हूं उसका अपना होते हुए भी उसके पीछे अन्यों का कितना सहयोग छुपा हुआ है कितना सहयोग लेकर के उसने ये सारी योग्यता बनाई है या धन संपत्ति बनाई है और वो अब दूसरों को दे रहा है तो ये जो लेने देने का व्यवहार है उसमें हम चतुर हों नहीं तो समाज में देखा जाता है लेते देते हुए भी संबंध अच्छे नहीं रहते सामाजिक व्यवहार में शादी ब्याह में रीति रिवाज के अनुसार बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ लेते हैं लेकिन ये लेते देते हुए भी परस्पर प्रसन्नता नहीं रहती है उसमें भी ऊंच नीच का भाव आता है उसमें भी राग और द्वेष बन जाते हैं लेना देना तो है ही हमें लेकिन लेने देने में हम चतुर हों ऐसे चतुर कि हम सुखपूर्वक रह सकें कहा किसको कितना देना है और कहा किससे कितना लेना है लेने में भी बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है नहीं तो यदि विनम्रता ना हो तो व्यक्ति नहीं लेगा उसका अपना गर्व होता है और ये जो सारा लेना देना है ये उस व्यक्ति के परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हमारा अच्छा हो जो कि अन्न से संपन्न है स्वधाव है और महर्षि ने यहां पर यजस्व के लिए कहा यज के जो तीनों अर्थ हैं ये सब भी कि हमारे लिए विद्वानों का सत्कार यानी देव पूजा और सब सज्जनों के सुखादि की संगति यानी संगतिकरण और विद्यादि गुणों का दान यानी दान ये सब आप स्वयं करो परमात्मा इन सब चीजों में हमारी सहायता करता है ये सारे कार्य हमें स्थूल रूप से अपने द्वारा किए जाते हुए दिखाई देते हैं अन्य मनुष्यों के द्वारा किए जाते हुए दिखाई देते हैं हम करते भी हैं और दूसरे भी करते हैं लेकिन इन सबके पीछे भी परमात्मा का सहयोग परोक्ष रूप से बना रहता है परमात्मा उस सहयोग को करता है उसी की यहां पर प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे पुरुषार्थ प्रयत्न के अतिरिक्त जो चीज है जो आप व्यवस्था करते हैं वो आप व्यवस्था सतत बनाए रखें जिससे कि हम सब सुखी हों ये आपकी कृपा हम पर बनी रहे इस मंत्र में विश्वकर्मा को देवता माना गया है मंत्र का देवता है विश्वकर्मा जिसने इस सारे संसार को रचा है और विभिन्न कर्मों को करता है विश्वकर्मन शब्द भी इस मंत्र में आया है मुख्य विषय विश्वकर्मा परमात्मा है और इस मंत्र का ऋषि है भुवन पुत्रो विश्वकर्मा ऋषि इस संसार को धारण करने वाली चीजों का भी जो रक्षक है वो है भुवन पुत्र इन भुवनों का भी पुत्र रक्षक और विश्वकर्मा संसार में विविध चीजों को बनाने वाला विभिन्न स्थितियों को पैदा करने वाला तो परमात्मा ने जिस तरह से इस सबको बनाया है उसी तरह से इस मंत्र का दृष्टा उसको पालन करने वाला बन जाता है वो भी इन भुवनों का रक्षक बन जाता है वो किस तरह से काम करेगा वो तीन प्रकार के या विविध प्रकार के लोगों को स्थानों को बनाएगा हमेशा यथा योग्य व्यवहार की दृष्टि से स्थितियां भिन्न भिन्न रखेगा समान रूप से सबको दे दे ऐसा नहीं करेगा और वो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता का भाव रखते हुए उनको सदा शिक्षा देगा लेन देन का व्यवहार ठीक रखेगा और उनके शरीर को बढ़ाते हुए उनको शिक्षा देगा उनके शरीर का भी ध्यान रखेगा उनके भवनों का भी ध्यान रखेगा उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए उनको शिक्षा प्रदान करेगा ऐसा जो व्यक्ति होगा वो भुवन पुत्र विश्वकर्मा बन जाएगा वो ऐसा ऋषि बन जाएगा जिस ऋषि ने इसका प्रथम साक्षात्कार किया था वो इस प्रकार का बन गया था इसलिए नाम रखा गया भुवन पुत्र विश्वकर्मा लेकिन हर आत्मा हर मनुष्य इस मंत्र का साक्षात्कार करके इसको समझ करके वैसा ही जीवन बना करके भुवन पुत्र विश्वकर्मा ऋषि बन सकता है तो परमात्मा के उपदेश को मन में रखते हुए और महर्षि ने इसकी जिस ढंग से व्याख्या की है उसको अपने अंदर रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने आर्यों को और श्रेष्ठ बनने की विधि शैली इस मंत्र में बताई गई उसको भाव को रखते हुए प्रणव ओ